भाई कुछ भी हो चिकन का मजा तो यहीं आता है बहुत दिन हो गया यहाँ खाए अधेड़ उम्र वाले शख्स ने कहा और इसके साथ ही उसने अपना कोट निकालकर अपनी चेयर की बैग में फंसा दिया सर बियर या वाइन लेंगे हमारे पास वाइट वाइन भी है वेटर ने सवाल किया <laughs> बियर मुर्गे के साथ बियर हाँ, हाँ ठीक ही रहेगा अधेड़ उम्र वाले शख्स ने मुस्कुराते हुए कहा अच्छा चिल्ड बियर है कि नहीं चिड़ तो नहीं होगा बट हाँ ठंडा जरूर होगा चलेगा वेटर ने जवाब दिया और अगर चिल्ड चाहिए तो बताइए अभी तुरंत फ्रीजर में रखवा देते हैं आपका ऑर्डर आने तक बिल्कुल चिल्ड हो जाएगा विक्रांत उन लोगों की बातचीत बड़े ध्यान से सुन रहा था लेकिन वो अभी उनके बीच में बोलना नहीं चाहता था हालांकि उसके डुप्लीकेट टास्क का टाइम लगभग होने ही वाला था लेकिन फिर भी जब तक विक्रांत को यह कन्फर्म नहीं हो जाता कि इन लोगों का कनेक्शन डुप्लीकेट टास्क से नहीं है तब तक वो किसी भी सूरत में इनसे पंगा नहीं ले सकता सर ये लीजिए ये खाइए बहुत टेस्टी है हर्षद ने हॉट पॉट में से एक चिकन का पीस निकालकर विक्रांत के आगे रखते हुए कहा गजब का है दिन सोचो जरा ओह चैन से खाने भी नहीं देते साले विक्रांत इस पीस को उठाकर खाने ही वाला था कि अचानक से उसका फोन बज उठा सो उसने पीस को नीचे रख दिया और फिर टिश्यू पेपर से अपना हाथ पहुंच कर फोन निकालने लग गया फोन उठाते ही विक्रांत के चेहरे का रंग बदल चुका था उसे इस हॉल में देखकर हर्षित ने भी चौंकते हुए कहा क्या क्या हुआ सर आ, नहीं विक्रांत ने अपना सिर हिलाते हुए कहा वो कुछ देर तक यूं ही हड़बड़ी वाली मुद्रा में बैठे हुए फोन पर बात करता रहा फिर जब उसने फोन पर बात कर ली तो फोन को उसने टेबल पर रख दिया फोन टेबल पर रखने के बाद विक्रांत ने चिकन का पीस उठाकर उसे खाना शुरू कर दिया क्या हुआ सर क्या बात है हर्षित ने बड़ी उत्सुकता के साथ सवाल किया <laughs> विक्रांत ने हल्की सांस छोड़ते हुए कहा बासु लहरी ने अपना पूरा बयान दे दिया है लाइट हाउस केस अब पूरा क्लियर हो चुका है विक्रांत ने खाना खाते ही लाइट हाउस के ओल्ड केस की सारी कहानी इन लोगों को सुना डाली थी ये वही कहानी थी जो के बासु ने अब जाकर पुलिस को बताई थी ओ मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है ओल्ड लाइट हाउस के मर्डर केस की पूरी कहानी जानने के बाद अनुष्का बिल्कुल हैरत में थी उसे मानो अभी भी इस पर यकीन नहीं हो रहा था हर्षित हम्म, भी काफी अचंभित था मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है कि भला ये कैसे हो सकता है विक्रांत ने गिलास उठाकर एक सिप वाइन का लिया और फिर लंबी सांस छोड़ते हुए बोल पड़ा वजाहत अली अब तुम्हारी आत्मा को शांति मिल जाएगी आज से 35 साल पहले वर्कला बीच पर रोजाना की तरह उस रात भी लाइट हाउस का गार्ड ड्यूटी करके अपने कमरे में सो रहा था लाइट हाउस के आसपास ये बड़ी शिप लगातार निकलती रहती है जिसकी साफ आवाज लाइट हाउस के पास भी सुनाई दे रही थी आधी रात का वक्त था और इस वक्त बासु बिना किसी कपड़े के वजाहत अली की बाहों में लिपटी हुई थी दोनों ने उस रात अब तक कई बार अपने शरीर को चरम सुख दे दिया था बासु अपने पति के साथ धोखा नहीं करना चाहती थी लेकिन दूसरी तरफ उसके जिस्म में जो आग लगी हुई थी उसे संभालना भी उसके लिए काफी मुश्किल हो रहा था बासु अपने पति के साथ लाइट हाउस के पास पिछले छह साल से रह रही थी शादी के तुरंत बाद ही बासु अपने पति के साथ यहाँ रहने के लिए आ चुकी थी लेकिन इन छह सालों में ना तो बासु कभी प्रेग्नेंट हुई थी और ना ही कभी उसे अपने पति से शारीरिक सुख का एहसास मिल सका था दरअसल बासु के पति का बचपन से ही कोई एक्सीडेंट हो गया था जिस वजह से उसका जनन अंग काम नहीं करता था वो ना तो कभी बाप बन सकता था और ना ही कभी किसी औरत को शारीरिक सुख दे सकता था हालांकि ये बात उसने शादी के वक्त बासु से छिपा रखी थी इस बात का पछतावा बासु के पति को हमेशा था वो अपनी शारीरिक कमी को लेकर बहुत शर्मिंदगी का अनुभव करता था बासु अपने पति की इस कमी के कारण बहुत दुखी रहती थी लेकिन वो अपने इस दुख को कभी चेहरे पर नहीं आने देती थी उसने अपने इस दुख को अपनी किस्मत का ही हिस्सा मान लिया था वैसे भी लाइट हाउस पर उन दोनों के अलावा कोई रहता भी नहीं था लेकिन जब वहाँ पर वजाहत पहुँचा तो उसके साथ ही बासु की जिंदगी में ड्रामेटिक बदलाव हुआ उसकी जिंदगी वहीं बदलनी शुरू हो गई जब बासु के पति ने वजाहत अली को समुद्र में डूबने से बचाकर अपने घर में रहने के लिए जगह दी थी तब शुरू में बासु के मन में वजाहत के लिए कोई फीलिंग नहीं थी लेकिन बाद में जब वजाहत अपने कपड़े बदल रहा था तब बासु की नजर उसके बदन पर गई और ये वही समय था जब बासु के मन में वजाहत अली के लिए चाहत जाग पड़ी थी ये चाहत प्यार का नहीं थी सिर्फ बदन की प्यास थी ये बात बासु भी अच्छे से समझ रही थी उस वक्त वजाहत बिल्कुल जवान था और शायद आज तक बासु को अपनी लाइफ में ऐसा मर्द मिला नहीं था उसके मन में उम्मीद जग चुकी थी कि वजाहत ही उसके बदन की आग को बुझा सकता है जब वजाहत अपने कपड़े बदल रहा था तो उस वक्त तो बासु और वजाहत के बीच ज्यादा बात नहीं हुई थी लेकिन हाँ वजाहत को उसी वक्त ये समझ आ चुका था कि बासु उसे किस नजरों से देख रही है और वो उससे क्या चाहती है बासु ने अपने मन में ही प्लान बना लिया था कि आज रात में जब उसका पति सो जाएगा तो फिर वो चुपके से वजाहत के पास जाकर अपने बदन की आग को ठंडा कर लेगी लेकिन शायद बासु ने कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी ये एक छोटी सी गलती आगे के 35 सालों तक उसके लिए परेशानी का सबब बनी रहेगी उस रात बासु से एक ये गलती हो गई थी कि उस रात उसने ध्यान नहीं दिया कि उसका पति सो रहा है या नहीं जब वो रात में उठकर वजाहत के पास गई तो उस वक्त उसका पति जाग रहा था उस रात भले ही बासु काफी ज्यादा थकी हुई थी लेकिन फिर भी वो वजाहत के पास रात भर नहीं रुकी रात में जैसे ही उसकी इच्छा पूरी हुई वो वापस अपने पति के कमरे में आ गई वहाँ पहुँचने के बाद उसने जो कुछ देखा वो शायद बासु का जिंदगी का सबसे बुरा दृश्य था लाइट हाउस के गार्ड ने किचन में रखे चाकू से खुद की ही गर्दन काट ली थी जब बासु ने उसे देखा तो उस वक्त उसके पति के खून से पूरे बेडरूम की फर्श लाल हो चुकी थी अक्सर मछुआरों के बारे में ये सुनने को मिलता है कि ये लोग काफी हिंसक स्वभाव के होते हैं ये लोग अक्सर किसी न किसी के साथ मारपीट करते रहते हैं लेकिन इस बार बासु के पति ने उल्टा किया उसने किसी और के साथ हिंसा करने के बजाय खुद के ही गले में चाकू चलाकर आत्महत्या कर ली थी बासु के पति के मन में अपनी शारीरिक कमी को लेकर हमेशा गिल्ट रहता था ऐसे में जब भी उसके साथ ऐसा कुछ होता था तब उसे अपनी शारीरिक कमी का एहसास होता था तब वो खुद को गुनाहगार मानकर खुद को ही प्रताड़ित करता था उस रात भी ऐसा ही हुआ था जब बासु चुपके से उसके पास से उठकर वजाहत के कमरे में गई तो वो भी उसके पीछे पीछे वहां चला गया वहां जाकर जब उसने देखा कि बासु वजाहत अली की बाहों में चिपकी हुई थी बासु बिना कपड़ों के वजाहत के नंगे बदन से चिपकी हुई थी और आज शायद पहली बार उसने अपनी पत्नी के मुंह से चरम सुख हासिल होने की आवाज सुनी थी वो अपनी पति को गैर मर्द की बाहों में सिमटी हुई तब तक देखता रहा जब तक कि वो पूरी तरह संतुष्ट नहीं हो सकी उधर बासु को जब चरम सुख की प्राप्ति हुई तब तक उसके पति का दिल चकनाचूर हो चुका था उसे अपनी कमी पर इतना ज्यादा दुख हुआ कि वो शायद दुनिया में किसी से नजरें नहीं मिला सकता था इसी दुख और पछतावे में उसने अपनी जान दे दी बासु ने जब अपने पति को जमीन पर बेसुद पड़ा हुआ देखा तो उसके पैरों तले जमीन ही खिसक गई वो तेजी से भागते हुए अपने पति को जगाने की कोशिश करने लगी लेकिन अब तक उसकी जान जा चुकी थी बासु को यह समझने में तनिक भी देर नहीं लगी कि उसके पति ने यह कदम क्यों उठाया है उसे अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ काफी देर तक वो अपने पति की लाश के आगे सिर पटक कर रोती रही उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो दुनिया को क्या मुंह दिखाएगी जब दुनिया को उसके बारे में पता चलेगा तो फिर वो भला कैसे अपनी नजरें उठाकर जी पाएगी ऐसे में काफी देर तक सोचने के बाद बासु को खुद को बचाने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता नजर आया